Hey guys I am Anamika welcome back to my YouTube channel आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक लेकर आई हूँ ये बुक सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है खासकर वो लोगों के लिए जिनके पास एक क्रेजी सा सपना है बट लेकिन उस सपने को सुनकर आसपास के लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं सोचते की अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा जिस बुक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उस बुक का नाम है शू डॉग एंड उसके राइटर है Phil Knight actually this is the story of Nike Nike के बारे में तो हम सभी ने सुना है की नाइकी वर्ल्ड फेमस ब्रांड है जो स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है टी शर्ट बनाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट लेकिन ज़्यादातर स्पोर्ट्स शूज़ के लिए फेमस है नाइकी की बात करें तो नाइकी के जो फाउंडर है मतलब फिल नाइट उन्होंने शूज सेल करने का स्टार्ट अपनी गाड़ी की डिग्गी से स्टार्ट किया और आज के टाइम आप देख सकते हैं कि वो किस मुकाम पर है इस बुक से हम ये जानने वाले हैं कि नाइकी की स्टार्ट कहाँ से हुई और इस मुकाम तक वो पहुंचा कैसे ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी रातों रात अमीर हो जाती है रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है ऐसा हम लोगों को लगता है बट ऐसा होता नहीं है हम उनके पीछे का हार्डवर्क नहीं देखते हैं फिल नाइट ने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया बट उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की तो इस बुक में हम ये जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन मुश्किलों का सामना कर कर इतनी बड़े ब्रांड को तैयार किया जो आज के टाइम में हर कोई नाइकी का नाम जानता है और इस बुक में उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें लिखी हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कर सकते हैं और हमारा हमारा भी उनकी तरह कोई क्रेजी सा सपना है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं तो चलिए इस बुक को शुरू करते हैं और हाँ अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ तो चलिए इस अमेजिंग बुक को शुरू करते हैं सो लेट्स बिगिन भोर मैं बाकी सबसे पहले उठ गया था चिड़ियों से भी पहले सूरज से भी पहले मैंने एक कप कॉफी पी टोस्ट खाया शर्ट्स और स्वेट शर्ट पहने और अपने हरे रनिंग शू के लेस बांधे फिर मैं पीछे के दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल आया मैंने अपने पैर ताने अपनी हैमस्ट्रिंग तानी अपनी निचली कमर तानी बाहर कोहरा था जब मैं ठंडी सड़क पर शुरुआत में कुछ डगमगाते कदम बढ़ाए तो मेरे मुंह से आह की आवाज निकली आह क्या करार जैसी शुरू करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है सड़क पर एक भी कार नहीं थी एक भी इंसान नहीं था जीवन का किसी तरह का कोई संकेत नहीं था मैं बिल्कुल अकेला था पूरे संसार में अकेला था वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास के पेड़ मुझे जानते थे फिर मैंने सोचा यह ऑर्गेन था यह पेड़ हमेशा आपको जानते हैं वे आपकी हकीकत जानते हैं चारों तरफ निहारते समय मेरे मन में यह विचार आया कि मैं कितनी सुंदर जगह रहता हूँ शांत हरी भरी सुकून भरी मुझे ऑर्गेन को अपने गर्व कहने पर गर्व होता है मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मैं छोटे पॉडलेट को अपना जन्म स्थान कह सकता हूँ लेकिन मुझे अफसोस भी होता है हालांकि ऑर्गन सुंदर था लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ कभी कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी ना ही उसके कभी होने की संभावना थी अगर हम ऑर्गन वाले किसी चीज के लिए मशहूर थे तो ये एक बहुत पुरानी पगडंडी थी जिस पर चलकर हम यहाँ आए थे इसके बाद से हम बहुत शांति से रह रहे थे और हमने ज्यादा तीर नहीं मारे थे पगडंडी की बात चल रही थी तो मेरे सबसे अच्छे टीचर की बात आना तय है वे मेरी जान पहचान के सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं वे अक्सर उस पगडंडी के बारे में बात करते थे वे बड़बड़ाते थे और भुनभुनाते थे यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा चरित्र हमारी तकदीर हमारा डीएनए कायरों ने कभी शुरुआत ही नहीं की वे मुझसे कहते थे और कमज़ोर रास्ते में मर गए बाकी बचे हम मेरे टीचर को पूरा विश्वास था कि उस पगडंडी के करीब नवाचार के प्रति दुर्लभ झुकाव था बड़ी संभावनाओं का एहसास था और आशावाद की भरी गुंजाइश थी और ऑर्गेन में रहने वालों के रूप में इस आशावाद को जीवित रखना हमारा काम था उनके प्रति उचित सम्मान दिखाते हुए मैं सिर हिला देता था और ऐसा क्यों नहीं करता मैं उनसे प्रेम करता था लेकिन जब मैं उनसे विदा लेता था तो मेरे मन में कई बार यह विचार आता था यह महसूस पगडंडी एक कच्ची सड़क ही तो है उस कोहरे भरी सुबह उन्नीस में उस बेहद महत्वपूर्ण सुबह मैंने सोचा कि मैं भी तो एक पगडंडी पर चलकर लौटा था मैं सात लंबे सालों तक दूर रहने के बाद घर वापस लौटा था दोबारा घर लौटना अजीब था हर दिन की बारिश के थपेड़े खाना अजीब था और अपने माता पिता तथा जुड़वा भाई बहनों के साथ दोबारा रहना अपने बचपन के बिस्तर में सोना तो और भी अजीब था देर रात को मैं अपनी पीठ के बल लेटकर कॉलेज की किताबों हाई स्कूल की ट्रॉफियों और ब्लू रिबन्स को घूरता रहता था और सोचता था यह मैं हूँ अब भी मैं सड़क पर ज्यादा तेजी से चलने लगा कोहरे में मेरी सांस जम रही थी और गोल गोल छल्ले बन रही थी मैंने शरीर के जागने की अनुभूति का आनंद लिया यह बहुत ही शानदार पल होता था जब मानसिक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता था जब अंग अंग और जोड़ खुलना शुरू होते हैं और भौतिक शरीर पिघलने लगता है यह ठोस से द्रव बन जाता है ज्यादा तेज मैंने खुद से कहा ज्यादा तेज मैंने सोचा कागज पर तो मैं बालिक हूँ मैं एक अच्छे कॉलेज से स्नातक की उपाधि ले चुका हूँ ऑर्गन यूनिवर्सिटी से मेरे पास शीर्ष बिजनेस स्कूल की स्नातकोत्तर उपाधि है स्टेनफोर्ड से अमेरिकी सेना में एक साल तक काम करने के बाद मैं जीवित लौट आया हूँ फोर्ट लूनसिन और फोर्ट यूस्ट मेरे रिज्यूमी में लिखा था कि मैं एक ज्ञानी व कुशल सैनिक था 24 साल का नौजवान मैंने सोचा तो फिर मैं अब भी बच्चे जैसा क्यों महसूस करता हूँ इससे भी बेहतर वही शर्मीला पीले चेहरे वाला दुबला पतला लड़का जो मैं हमेशा से रहा था शायद इसलिए क्योंकि मैंने अभी जीवन की कोई चीज अनुभव नहीं की थी इससे बहुत से प्रलोभनों और रोमांचों का तो स्वाद भी नहीं चखा था मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी किसी नशीली दवा को नहीं अजमाया था कानून की बात तो रहने दो मैंने कभी कोई नियम तक नहीं तोड़ा था 1960 का दशक यानी बगावत का वो युग पूरे शबाब से अमेरिका में चल रहा था और मैं शायद अमेरिका का एकमात्र इंसान था जिसने अब तक बगावत नहीं की थी मुझे याद नहीं आया कि मैंने कभी खुलकर कोई बंधन तोड़ा या कोई अप्रतिश काम किया मुझे किसी लड़की से प्यार भी नहीं हुआ था मैं क्या हूँ के बजाय मैं क्या नहीं हूँ यह कहना आसान था अगर मुझ में उन सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति थी जो मैं नहीं था तो कारण आसान था ये ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं सबसे अच्छी तरह जानता था यह कहना मुश्किल था कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ या क्या बन सकता हूँ या कौन बन सकता हूँ बस एक बात तय थी कि अपने सभी मित्रों की तरह मैं भी सफल बनना चाहता था लेकिन सफल होने का क्या मतलब था यह मेरे दोस्त जानते थे मैं नहीं जानता था पैसा शायद पत्नी बच्चे मकान निश्चित रूप से अगर मैं खुशकिस्मत रहा ये वो लक्ष्य थे जिनके सपने देखना मुझे सिखाया गया था और मेरा एक हिस्सा सहज बोध से वे सपने देखता भी था लेकिन गहराई में मैं किसी दूसरी चीज की तलाश कर रहा था मेरे अंदर एक दर्द भरा एहसास था कि हमारा समय कम है इतना कम है कि हमें पता नहीं होता सुबह की दौड़ जितना छोटा और मैं चाहता था कि उस संसार में जो समय गुजारूं वह सार्थक हो और उद्देश्यपूर्ण और सृजनात्मक और महत्वपूर्ण सबसे बढ़कर अलग मैं संसार पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था मैं जीतना चाहता था नहीं यह सही नहीं है मैं बस हारना नहीं चाहता था और फिर पलक झपकते ही यह हो गया जब मेरा युवा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मेरे गुलाबी फेफड़े किसी पक्षी के पंखों की तरह फैलने लगे जब पेड़ हरे भरे झोंकों में बदलने लगे तो मैंने यह सब अपनी आंखों के सामने देख लिया ठीक वैसा ही जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता था खेल हाँ मैंने सोचा यह सही है यही शब्द है मुझे हमेशा से लगता था कि खुशी का रहस्य सौंदर्य या सत्य का सार या वह सब जो हमें इनमें से किसी के बारे में भी जानने की ज़रूरत है उस पल में होता है जब गेंद बीच हवा में होती है जब दोनों मुक्केबाजों को घंटी के बजने का आसनन एहसास होता है जब धावक फिनिशिंग लाइन के करीब होते हैं और जब भीड़ एक साथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है जीतने और हारने का निर्णय होने से पहले का जो धड़कता हुआ आधा सेकंड होता है उसमें एक तरह की उल्सा संपूर्ण स्पष्टता होती है मैं यही सोचता था कि क्षेत्र चाहे जो भी हो मेरा जीवन ऐसा ही बने मेरे जीवन का हर दिन ऐसा ही रहे अलग अलग समय मैंने महान उपन्यासकार महान पत्रकार महान नेता बनने की फंतासी बुनी थी लेकिन चरम स्वप्न हमेशा महान खिलाड़ी बनने का रहा था किस्मत से मुझे खेल के क्षेत्र में बेहतर तो बनाया था लेकिन दुर्भाग्य से बेहतरीन नहीं बनाया 24 साल की उम्र में मैंने आखिरकार इस सच्चाई से समझौता कर लिया मैंने ऑर्गेन के दौड़ प्रतियोगियों में हिस्सा लिया और खुद की अलग पहचान बनाई थी मुझे चार से तीन साल प्रतिशत पत्र भी मिले थे लेकिन बात बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब मैं छः मिनट में एक मील की रफ्तार से लंबा दौड़ने लगा और जब उगता सूरज चीड़ के वृक्षों की सबसे निचली शाखाओं को लाल कर रहा था तो मैंने खुद से पूछा कितना अच्छा हो अगर कोई ऐसा रास्ता हो कि मैं खिलाड़ी बनने बिना ही उसे महसूस कर लूँ जो खिलाड़ी महसूस करते हैं काम करने के बजाय सारे समय खेलूं या काम का इतना ज़्यादा आनंद लूं कि यह एक तरह से खेल जैसा लगने लगे संसार दुख दर्द और कष्ट से इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है दैनिक जीवन इतना थकाने पकाने वाला और अक्सर अन्यायपूर्ण था इसलिए मैंने सोचा कि इकलौता जवाब कोई बहुत बड़ा असंभव दिखने वाला स्वप्न खोजना था जो मूल्यवान दिखता हो जो मज़ेदार दिखता हो जो मेरे हिसाब से उपयुक्त दिखता हो और जिसका पीछा मैं किसी खिलाड़ी के आग्रह संपूर्ण और उद्देश्य के साथ दौड़कर कर सकूं। उसे पसंद करें या नहीं करें जीवन एक खेल है जो भी इस तथ्य से इनकार करता है जो भी इसे खेलने से इनकार करता है उसे दर्श दीर्घ में या हाशियारे पर धकेल दिया जाता है और मैं ये नहीं चाहता था किसी भी चीज़ से चढ़कर या वह चीज़ थी जिसे मैं नहीं चाहता था और एक बार फिर मुझे हमेशा की तरह अपने सरफिरे विचार की ओर ले गया शायद मैंने सोचा बस शायद मुझे अपने सरफिरे विचार को एक बार और टटोलना चाहिए शायद मेरा सरफिरा विचार आखिरकार कामयाब हो सकता है शायद नहीं नहीं मैंने सोचा अब मैं ज़्यादा तेज दौड़ रहा था मानो मैं किसी का पीछा कर रहा था और कोई मेरा पीछा कर रहा था यह कारगर होगा ईश्वर की सौगात मैं उसे कारगर बनाऊंगा इसके बारे में कोई शायद नहीं है मैं अचानक मुस्कुरा रहा था लगभग हंस रहा था मैं पसीने से नहा गया था मैं उतने ही आकर्षक और प्रयास रहित अंदाज में चल रहा था जिस जिसमें मैं हमेशा चल रहा था और उस पल मैंने अपने सरफरे विचार को थोड़ा आगे चमकते देखा और यह बिल्कुल भी सरफरा नहीं दिख रहा था यह विचार जैसा भी नहीं दिख रहा था यह तो किसी जगह जैसा दिख रहा था यह किसी इंसान या किसी जीवन शक्ति की तरह दिख रहा था जो मुझसे पहले से लंबे समय से मौजूद थी जो मुझसे अलग तो थी लेकिन मेरा हिस्सा भी थी यह मेरा इंतजार कर रहा था लेकिन मुझसे छुप रहा था और यह आपको थोड़ा महत्वाकांक्षी थोड़ा ख्वाब लग रहा होगा लेकिन तब मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था या शायद ऐसा महसूस नहीं हुआ था शायद मेरी स्मृति इस यूरेका पल को चढ़ा बढ़ाकर बता रही थी या यूरेका पलों को एक में मिला रही थी या शायद अगर ऐसा कोई पल था तो यह रनाइस हाई यानी दौड़ने के उत्मन उल्लास से ज़्यादा कुछ नहीं था मैं नहीं जानता था मैं पक्का नहीं कह सकता और दौड़ की स्मृतियों को क्रमवृत करते समय उन दिनों महीनों और वर्षों के बारे में बहुत कम गायब हो चुका है सांस के उन गोल गोल छल्ले की तरह जो चेहरे संख्याओं और निर्णय कभी अत्यावश्यक और अटल दिखते थे वे सभी अब जा चुके हैं बहरहाल जो स्मृति में बचा वह वह सत्वना देता है यह एक ऐसा विश्वसनीय सत्य है जो कभी दूर नहीं जाएगा 24 साल की उम्र में मेरे मन में एक सरफिरा विचार आया और उस उम्र के सभी युवकों की तरह मैं भी अस्तित्ववादी तनाव से विमूढ़ था भविष्य को लेकर डरता था और अपने बारे में शाखाएं महसूस करता था लेकिन इन सब के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार सरफिरे विचारों से बना हुआ है इतिहास सरफिरे विचारों का एक लंबा काफिला है मैं जिन चीज़ों से प्रेम करता हूँ पुस्तक खेल प्रजातंत्र पूंजीवाद वे सभी सरफिरे विचारों के रूप में शुरू हुई थी वैसे देखा जाए तो बहुत कम विचार मेरी प्रिय चीज जितने सरफिरे होते हैं यानी दौड़ना दौड़ना मुश्किल होता है यह दर्दनाक होता है इसमें जोखिम होता है इसके बहुत कम पुरस्कार होते हैं और उनकी कोई गारंटी भी नहीं होती जब आप अंडा आकार ट्रैक या किसी खाली सड़क पर दौड़ते हैं तो आपकी कोई असली मंजिल नहीं होती कम से कम कोई ऐसी मंजिल तो नहीं होती जो प्रयास को पूरा तरह तर्क संगत बना सके दौड़ने का काम खुद ही अपनी मंजिल बन जाता है ऐसा नहीं है कि कोई फिनिश लाइन यानी समापन रेखा नहीं होती बात यह है कि आप खुद ही अपनी फिनिश लाइन को तय करते हैं दौड़ने से आपको जो खुशी या लाभ मिलते हैं वे बाहर नहीं भीतर होते हैं इसलिए आपको अपनी तलाश अपने भीतर ही करनी होगी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद के सामने उनकी कितनी अच्छी पैरवी करते हैं हर दावक यह बात जानता है आप दौड़ते हैं और दौड़ते चले जाते हैं मील दर मील और आपको कभी पक्का नहीं पता होता कि क्यों आप खुद को बताते हैं कि आप किसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं किसी उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं लेकिन आप दरअसल इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उसका विकल्प आपसे बर्दाश्त नहीं होता आप दरअसल इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि रुकना आप मौत की तरह डराता है इसलिए उन्नीस में उस सुबह मैंने खुद से कहा कोई भी तुम्हारे विचार को सरफिरा कहे तो कहता रहे बस चलते रहो रुकना मत रुकने के बारे में सोचना भी मत जब तक कि तुम वहाँ पहुँच नहीं जाओ और इस बारे में ज़्यादा मत सोचना कि वहाँ कहाँ चाहे जो हो जाए बस रुकना मत यह एक असामिक भविष्यदर्शी आत्यवाशक सलाह है जो मैंने खुद को अचानक देने और लेने में कामयाबी पाई है पचास साल पहले की बात है और आज आधी सदी बाद भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह सबसे अच्छी सलाह है शायद एकमात्र सलाह जो हमें किसी को देनी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं खंड एक से उन्नीस मैंने निर्णय लिया कि मैं यह विषय अपने पिताजी के सामने छेड़ूंगा मैंने निर्णय लिया कि मैं उनसे अपने विचार के बारे में चर्चा करूंगा बहरहाल मैंने यह काम शाम के समय करने का फैसला लिया यह डैडी से बातचीत करने का सबसे अच्छा समय होता है तब वे तनाव रहित होते हैं उनका पेट अच्छी तरह भरा हुआ होता है वे टीवी वाले कोने में अपने विनाइल रिनाइलर पर पसरे होते हैं मैं अब भी अपना सिर टिकाकर और आंखें बंद करके भीड़ के हंसने की आवाज़ सुन सकता हूँ जो अपने प्रिय शो वैगन ट्रेन और राइडर के छोटे थीम साइनस में सुनाई देती है उनका सबसे प्रिय प्रोग्राम द रेड बैंड हर एपिसोड रेड के इस गाने से शुरू होता है हो हो हो ही ही ही अजीब चीजें हो रही हैं मैं उनके बगल में सीधी पीठ वाली कुर्सी पर बैठ गया और एक फीकी मुस्कान देकर अगले विज्ञापन का इंतज़ार करने लगा मैंने अपने दिमाग में अपने डायलॉग की बार बार रिहर्सल की थी ख़ास तौर पर शुरुआत की देखिए डैडी आपको वह सरफिरा विचार याद है जो मेरे मन में स्टेनफोर्ड में आया था यह अंतिम कक्षाओं में से एक में हुआ था उद्यमिता पर एक सेमिनार में मैंने जूतों के बारे में एक शोध पत्र लिखा था वह शोध पत्र वैसे तो एक साधारण असाइनमेंट था लेकिन मैंने इसे अपने जुनून से जोड़ लिया धावक होने के कारण मुझे दौड़ने वाले जूते के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी कारोबारी प्रवृत्ति की वजह से मैं जानता था कि जापानी कैमरा बाजार पर काफी दबदबा बना चुके हैं जहां कभी जर्मनी का दबदबा था इसी तर्ज पर मैंने अपने शोध पत्र में यह तर्क दिया कि जापानी स्पोर्ट्स शूज भी ऐसा ही कर सकते हैं इस विचार ने मुझे रोमांचित किया फिर प्रेरित किया और फिर सम्मोहित कर लिया यह बहुत स्पष्ट लग रहा था बहुत आसान लग रहा था बहुत विशाल लग रहा था मैंने उस शोध पत्र पर कई सप्ताह तक मेहनत की मैंने लाइब्रेरी में जाकर हर वह किताब और पत्र पत्रिकाएं पढ़ डाली जो मुझे आयात और निर्यात के बारे में तथा कंपनी शुरू करने के बारे में मिल सकती थी आखिरकार मुझे अपने सहपाठियों के सामने शोध पत्र की औपचारिक प्रस्तुति देनी पड़ी जो असाइनमेंट के लिए अनिवार्य थी सभी सहपाठियों ने उसे सुनते समय बोरियत भरी प्रतिक्रिया दी किसी ने भी एक भी सवाल नहीं पूछा मेरे जोश और जुनून के बदले मुझे गहरी आह और सुनी निगाहें मिली प्रोफेसर को मेरे जुनूनी विचार में दम नजर आया और उन्होंने मुझे एक ग्रेड दिया लेकिन बात वहीं खत्म हो गई कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाया मैं कभी उस शोध पत्र के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाया उस पल से लेकर टीवी वाले कोने में बैठने तक काफी समय गुजर चुका था लेकिन हर सुबह दौड़ते समय मैं वही सोचता रहा कि मैं जापान जाऊंगा एक जूता कंपनी खोजूंगा और उनके सामने अपना विचार रखूंगा फिर मैं ये उम्मीद करूँगा कि वे मेरे सहपाठियों से ज़्यादा उत्साहभरी प्रतिक्रिया देंगे और कहेंगे कि वे उन्नीदे ऑर्गन से आए एक शर्मीले पीले चेहरे वाले दुबले पतले लड़के के साथ साझेदारी करना चाहते हैं मैंने जापान तक जाने का एक आकर्षक घुमावदार लंबे पथ की कल्पना भी कर ली थी मैंने सोचा मैं संसार पर अपनी छाप कैसे छोड़ सकता हूँ जब तक कि मैं पहले उसे देख नहीं लूँ या दौड़ का सिद्धांत है किसी भी बड़ी दौड़ में दौड़ने से पहले आप हमेशा ट्रैक पर चलना चाहते हैं इसलिए मैंने तर्क दिया कि अगर मैं संसार में नाम कमाना चाहता हूँ पूरे संसार की यात्रा करनी चाहिए उन दिनों कोई भी जीवन के लक्ष्य या कार्य सूची तैयार नहीं करता था लेकिन शायद मेरे दिमाग में यही कार्य सूची थी जिसके बारे में मैं लगातार सोचता रहता था मरने से पहले ज़्यादा बूढ़े होने या रोजगार की छुटपुट बातों से उलझने से पहले मैं इस धरती की सबसे सुंदर और अद्भुत जगहों की यात्रा करना चाहता था और उसकी सबसे पवित्र जगहों की भी जाहिर मैं दूसरे देशों के व्यंजनों का स्वाद लेना चाहता था दूसरी भाषाओं को सुनना चाहता था दूसरी संस्कृतियों में गोता लगाना चाहता था लेकिन मैं जो सचमुच चाहता था वह था जुड़ाव गहरा जुड़ाव मैं उसे अनुभव करना चाहता था जैसे चीनी लोग ताव कहते हैं ग्रीक लोग हिंदू ज्ञान कहते हैं और बौद्ध धर्म कहते हैं जिसे ईसाई स्पिरिट कहते हैं मैंने सोचा अपनी खुद की जीवन यात्रा शुरू करने से पहले मुझे मानव जाति की ज़्यादा महान यात्रा को तो समझने दो मुझे सबसे भव्य मंदिर और चर्च और धार्मिक इमारतें तो देखने दो सबसे पवित्र नदियाँ और पर्वत शिखर तो देखने दो मुझे ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने दो हाँ मैंने खुद से कहा हाँ बेहतर शब्द के अभाव में ईश्वर लेकिन सबसे पहले मुझे अपने डैडी की हरी झंडी चाहिए थी इससे भी ज़्यादा मुझे उनका पैसा चाहिए था मैंने पहले भी ये काम किया था मैंने पिछले साल एक बड़ी यात्रा का जिक्र छेड़ा था और डैडी इसे लेकर विरोध में नहीं दिखे थे लेकिन निश्चित रूप से अब तक वे भूल गए होंगे और मैं निश्चित रूप से उस मूल प्रस्ताव में यह जुनूनी विचार छोड़ रहा था यह जापान की चौंका देने वाली अतिरिक्त यात्रा डाल रहा था एक कंपनी शुरू करने के लिए फिजूल चीज़ों की बात मत करो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो निश्चित रूप से उन्हें यह बहुत दूर की कौड़ी लगेगी और एक ऐसी कौड़ी जो बहुत महंगी भी थी सेना में मैंने जो कमाई की थी उसमें से कुछ मैंने बचा लिया था इसके अलावा पिछली गर्मियों में मैंने कई अंशकालीन नौकरियां भी की थी जिनका पैसा भी मेरे पास बचत में रखा था इसके अलावा मैं अपनी कार बेचने की योजना बना रहा था एक चेरी ब्लैक 1960 एमजी जिसमें रेसिंग टायर और एक जुड़वा कैम था सब कुछ मिलाकर मेरे पास 1500 डॉलर की व्यवस्था थी यानी अब भी 1000 डॉलर कम थे जैसा मैंने अब अपने डैडी को बताया उन्होंने सिर हिलाया ओ आ किया हम्म की जब मैं उन्हें पूरी बात बता रहा था तो वे बीच बीच में अपनी निगाहें टीवी से हटाकर मेरी तरफ कर लेते थे और फिर दोबारा टीवी पर केंद्रित कर लेते थे याद है डैडी हमने पहले भी इस बारे में बात की थी मैंने कहा था मैं दुनिया देखना चाहता हूँ हिमालय पिरामिड मृत सागर डैडी मृत सागर अच्छा तो हाँ हाँ मैं जापान भी रुकने की सोच रहा हूँ डैडी मेरा जुनूनी विचार याद है जापान के दौड़ने वाले जूते ठीक है यह बहुत बड़ा अवसर हो सकता है डैडी बहुत बड़ा मैं अब अच्छी तरह मस्का लगा रहा था उन्हें यह विचार बेचने की कड़ी कोशिश कर रहा था कुछ ज़्यादा ही क्योंकि मैं हमेशा बेचने से नफरत करता था और इस खास बिक्री में तो सफलता की संभावना भी शून्य लग रही थी डैडी ने कुछ समय पहले ही ऑर्गन यूनिवर्सिटी को सैकड़ों डॉलर की फीस दी थी और स्टेनफोर्ड में हजारों डॉलर की वे ऑर्गन जनरल के प्रकाशन थे उनकी यह ठोस नौकरी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती थी जिसमें पोलैंड के सबसे शांत उपनगर ईस्टर्न मोलैंड के क्लेबर्नर स्ट्रीट पर हमारा बड़ा सफेद घर भी शामिल था लेकिन वह आदमी नोट नहीं छापता था और उसके घर पर पैसों का पेड़ भी नहीं लगा था और इसके अलावा उन्नीस की बात उस वक्त हालांकि इंसान कैप्सूल में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा था लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि 90 प्रतिशत अमेरिकी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठते थे औसत आदमी या औरत कभी अपने घर से 100 मील से दूर ज़्यादा नहीं गई थी इसलिए हवाई जहाज से दुनिया की सैर करने का जिक्र किसी भी पिता को हिला सकता था खास तौर पर मेरे पिता को जिनके अखबार के पूर्ववर्ती एक विमान दुर्घटना में मरे थे अगर पैसे की बात छोड़ दें अगर सुरक्षा की चिंता छोड़ दें तब भी पूरी चीज बहुत अव्यवहारिक थी मैं जानता था कि 27 से 26 नई कंपनियां असफल हो जाती हैं और डैडी भी यह बात जानते थे और इतना भारी जोखिम लेने का विचार उनकी विचारधारा और मानसिकता के खिलाफ था कई मायनों में डैडी पारंपरिक थे जो ईसा मसीह की पूजा करते थे लेकिन वे एक गोपनीय देवी की पूजा भी करते थे प्रतिष्ठा डैडी को घर सुंदर पत्नी और अज्ञानी बच्चों में आनंद आता था लेकिन उन्हें सच्चा आनंद इस बात में आता था कि उनके मित्र और पड़ोसी जानते थे कि ये चीज़ उनके पास थी उन्हें प्रशंसा और आधार पसंद था उन्हें हर दिन बहती नदी में पीठ के बल तेजी से तैरना पसंद था इसलिए एक सनकी विचार की वजह से दुनिया की सैर करने में उन्हें कोई समझदारी नहीं दिख सकती थी ऐसा कौन करता है निश्चित रूप से सम्मानजनक लोगों के सम्मानजनक पुत्र तो नहीं करते या ये तो एक ऐसी चीज़ थी जो दूसरे लोगों के बच्चे करते थे एक ऐसी चीज़ जो आप पारंपरिक और हिप्पी लोग करते थे मेरे डैडी प्रतिष्ठा पर असाधारण आसक्त थे और संभवतः उसका मुख्य कारण उनकी अंदरूनी अजरकता का डर था मैंने यह सहज बोध से महसूस किया क्योंकि कभी कभार वह अजरकता फूट पड़ती थी बिना किसी चेतावनी के देर रात को सामने वाले हॉल का फोन बजने लगता था और मुझे फोन पर वहीं जानी पहचानी पर थीली आवाज़ सुनाई देती थी उन्हें ले जाओ मैं अपना रेनकोट पहनता था और उन रातों को हमेशा धुंध भरी बारिश का माहौल होता था और अपनी कार से डैडी के क्लब तक जाता था जिनकी स्पष्टता से मुझे अपना खुद का बेडरूम याद था उतना ही स्पष्टता से मुझे वह क्लब याद था एक सदी पुराना फर्श से छत तक बलूद के बुकेकेस और पीट वाली कुर्सियाँ यह किसी ब्रिटिश कैंट्री हाउस के ड्राइंग रूम जैसा दिखता था दूसरे शब्दों में बेहद प्रतिष्ठा मुझे डैडी हमेशा उसी टेबल पर मिलते थे उसी कुर्सी पर मैं हमेशा धीरे से खड़े होने में उनकी मदद करता था आप ठीक हैं डैडी बिल्कुल ठीक हूँ मैं हमेशा कार तक उन्हें मार्गदर्शन देता था और घर लौटते समय पूरे रास्ते हम यह नाटक करते थे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है वे शाही अंदाज में पूरी तरह तनकर बैठते थे और हमें खेलों पर बातचीत करते थे क्योंकि खेल पर बातचीत करने से मेरा तनाव कम हो जाता था और मुझे राहत मिलती थी मेरे डैडी भी खेलों को पसंद करते थे खेल हमेशा प्रतिशिष्ट होते हैं इन और दर्जनों दूसरे कारणों से मुझे यह उम्मीद थी कि मेरे डैडी टीवी वाले कोने में मेरे प्रस्ताव पर त्योरी चढ़ा लेंगे और तुरंत इनकार कर देंगे हाँ हाँ सिरफिरा विचार सवाल ही नहीं उठता वक्त बहरहाल तब मैंने बोलना बंद किया जब मैंने अपना मस्के भरा विज्ञापन बंद किया तो मेरे डैडी अपने विज्ञापन रिलाइनर में आगे की तरफ झूले और मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहा है कि वे जवानी में ज़्यादा घूम फिर नहीं पाए उन्होंने कहा कि यात्रा मेरी शिक्षा को पूरा कर सकती है उन्होंने मुझे सारी चीज़ें कहीं जो सभी सिरफिरे विचार के बजाय यात्रा पर ज़्यादा केंद्रित लेकिन मैं उनकी गलती क्यों सही करता मैं शिकायत क्यों करता जब वे मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे थे और अपने पैसे भी ठीक है वह बोले ठीक है बक ठीक है मैंने डैडी को धन्यवाद दिया और इरादा बदलने का मौका दिए बिना ही उस कोने से भाग गया बाद में मुझे थोड़ी गिलानी भी हुई कि मेरे डैडी की यात्रा की कमी एक गुप्त कारण था शायद मुख्य कारण था जिस वजह से मैं दुनिया की सैर करने जाना चाहता था यह यात्रा यह सिरफिरा विचार उनसे अलग बनाने का एक अचूक तरीका होगा या शायद हम कम प्रतिशत हैं या शायद प्रतिशत के प्रति कम आसक्ति या जुनून रखने वाले हैं परिवार के बाकी लोग इसके ज़्यादा पक्ष में नहीं थे जब मेरी नानी को पता चला कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ तो वे एक खास जगह का नाम सुनकर दहशत में आ गई जापान वे चिल्लाई कुछ साल पहले की बात भूल गए जब जापानी लोग हमारी जान के दुश्मन थे क्या तुम्हें याद नहीं है पॉल हर्बल जापानियों ने दुनिया जीतने की कोशिश की थी वे छिपे हुए हैं वे तुम्हें बंदी बना सकते हैं बक तुम्हारी आंखें नोच सकते हैं और वे आंखें नोचने के लिए बदनाम है तुम्हारी आंखें मैं अपनी नानी से प्यार करता था जिन्हें हम सभी मॉम हेडफील्ड कहते हैं और मैं उनके डर को समझता था जापान उतनी ही दूर था जितनी दूर आप रोजबर्ग ऑर्गन से जा रहे थे वह खेतीहर कब्जा जहाँ वे पैदा हुई थी और जहाँ वे जिंदगी भर रही थी मैंने उनके और हेडफील्ड के साथ वहाँ कई गर्मियाँ गुजारी थी लगभग हर रात को हम पोर्च पर बैठते थे और टर टर करते हुए बड़े बड़े मेडकों की आवाज़ों के साथ कंसोल रेडियो की आवाज़ भी सुनते थे जो 1940 के दशक की शुरुआत में हमेशा युद्ध की खबरें सुनाता था जो हमेशा बुरी होती थी हमें बार बार बताया जाता था कि जापान 2600 साल में एक भी युद्ध नहीं हारा और ऐसा लगभग तय लग रहा था कि वह इस युद्ध में भी नहीं हारेगा एक के बाद एक जगह हम हार रहे थे आखिरकार 1942 में म्यूजियल ब्रांड कस्टिंग के ग्रेबिल हीटर ने एक अनोखा काम किया उन्होंने रात की रेडियो रिपोर्ट्स चीखते हुए इन शब्दों से शुरू की गुड इवनिंग एवरीवन आज रात अच्छी खबर है अमेरिकियों ने आखिरकार एक निर्णायक लड़ाई जीत ली है आलोचकों ने कहा हीटर पक्षपात दिखा रहे हैं उन्होंने हीटर के निश्चल्य हौसल अफजाई को कोसा क्योंकि उनके पत्रकारिता की निष्कर्ता के तमाम नाटक को छोड़ दिया था लेकिन जनसाधारण की राय विपरीत थी दरअसल जापान के प्रति सार्वजनिक नफरत इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर लोग ने नायक के रूप में हीटर की प्रशंसा की इसके बाद उन्होंने अपने सारे प्रसारण उन्हीं शब्दों के साथ शुरू की आज रात अच्छी खबर है मेरी सबसे शुरुआती यादों में से यह एक है कि मैं मॉम और पॉप हेल्ड फीटर के साथ पोर्चर में बैठा था पाप अपने जेबी चाकू से सेब छील रहे थे मुझे एक टुकड़ा दे रहे थे फिर एक खुद खा रहे थे फिर मुझे एक टुकड़ा दे रहे थे फिर एक खा रहे थे इसी तरह यह चल रहा था लेकिन किसी पल उनकी जेब छीलने की गति अचानक कम होती चली गई हीटर आ रहा था शत शत शत चुप हो जाओ मैं अब भी देख सकता हूँ कि हम लोग सेब चबाते चबाते रात के आसमान को निहारते रहते थे और जापान हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी था हमें ये आशंका थी कि कहीं हमें जापानी विमान आसमान के सबसे उजले व्यय तारे को पार करते नहीं दिख जाए कोई हैरानी नहीं कि विमान में पहली बार चढ़ते समय जब मैं लगभग पाँच साल का था मैंने पूछा था डैडी कहीं जापानी हमें गोली मारकर गिरा तो नहीं देंगे हालांकि मॉम हेडफील्ड की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे चिंता नहीं करें मुझे कुछ नहीं होगा और मैं उनके लिए एक किमोना भी लेकर आऊँगा मेरी जुड़वा बहनें जीन और जोइन मुझे मुझसे चार साल छोटी थी और उन्हें तो जैसे यह परवाह ही नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ और जहाँ तक मुझे याद है मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा था वे अक्सर कुछ कहती भी नहीं थी लेकिन उस बार उनकी खामोशी थोड़ी अलग थी यह सहमति जैसी दिख रही थी गर्व जैसी भी मैंने अपनी यात्रा के लिए पढ़ने योजना बनाने और तैयारी करने में कई सप्ताह लगाए मैं लंबी दूरी तक दौड़ने गया और जब मैं सिर के ऊपर से उड़ते जंगली कलहंसों के साथ स्पर्धा करता तब मैंने हर विवरण पर विचार किया कलहंसों के झुंड का कसा हुआ वी जैसा आकार है मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका फायदा यह होता है कि आगे वाले कलहंसों के हवा काटने की वजह से पीछे वालों को 20 प्रतिशत कम काम करना पड़ता हर धावक यह बात जानता है कि आगे दौड़ने वाले हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा जोखिम भी लेते हैं डैडी के पास जाने से काफ़ी पहले ही मैंने ये निर्णय ले लिया था कि दुनिया की सैर से मेरा कोई साथी होना चाहिए और वह भी कोई दूसरा नहीं बल्कि फोर्ड का मेरा सहपाठी कार्टर ही होना चाहिए हालांकि कार्टर विलियम जिवेल कॉलेज का बास्केटबॉल स्टार था लेकिन वह आम खिलाड़ियों जैसा नहीं था वह मोटा चश्मा लगाता था और किताबें पढ़ता था अच्छी किताबें उससे बात करना आसान था और बात नहीं करना भी किसी दोस्त में ये दोनों गुण महत्वपूर्ण होते हैं और एक बराबर महत्वपूर्ण होते हैं साथ सैर करने वाले साथियों में तो ये गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए लेकिन कार्डन मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा जब मैंने उसे बताया कि मैं किन किन जगहों को देखना चाहता हूँ Hawaii Tokyo Hong Kong Rangoon Calcutta Mumbai Saigon Kathmandu काहिरा इस्तांबुल इथेसन Jordan Nairobi Rome Paris Vienna पश्चिम बर्लिन पूर्व बर्लिन म्यूनिक लंदन तो वह एड़ियों के बाल चुगने लगा और हंसने लगा मैं स्तब्ध था मैं और दुखी भी मैंने नीचे देखा और क्षमा मांगने लगा फिर कार्टन ने हंसते हंसते ही कहा बहुत ही शानदार विचार है बक मैंने ऊपर देखा वह मुझ पर नहीं हंस रहा था वह तो खुशी के मारे हंस रहा था वह प्रभावित था उसने कहा इस तरह की सूची बनाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है साहस की वह भी साथ जाना चाहता था कुछ दिनों बाद उसने अपने माता पिता की अनुमति ले ली साथ ही पिता से उधार भी ले लिया कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे ले लेना कार्टर ऐसा ही था मैंने खुद से कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाते समय मैं इस तरह के बंदे से बहुत कुछ सीख सकता हूँ हमने तय किया कि हम एक एक सूटकेस और एक एक बैकपैक ही ले जाएंगे केवल बुनियादी ज़रूरत का सामान हमने एक दूसरे से वादा किया कुछ जीन्स कुछ टी शर्ट दौड़ने वाले जूते रेगिस्तानी बूट धूप का चश्मा एक जोड़ी खाकी मैंने एक अच्छा सूट भी पैक कर लिया ब्रुक्स ब्रदर्स का हरे रंग का डबल बटन सूट इसलिए ताकि अगर कहीं मेरा विचार सच हो जाए तो उस वक्त ज़रूर काम आए